हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे युगायतं निमेषेन चक्षुषा प्रावृशायतम् शून्यायतं जगत् सर्वम् गोविन्दविरहेण मे महाप्रभु उक्त शिक्षाष्टक का सप्तम श्लोक विरहा कातर में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक निमेश एक क्षण लगभग एक्चुअली दोनों तो एक ही नहीं है उसका मतलब बहुत थोड़ा समय तो युग में एक निमेश एक युग जैसे अनुभव करता हूं तो युग शब्द का मतलब दीर्घ काल विशेष अर्थ है बारह साल या एक युग काली युग द्वारप युग त्रेता युग सत्य युग एक महायुग ये चारों युगों हजाबा एक महायुग बोलते तो ये सब युग बोलते तो इस श्लोक का अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु अनुभव करते है कि गोविंद का विरह से वे एक निमेश बहुत दीर्घ काल जैसे अनुभव करते और इसके पहले वो श्लोक नायनम गलरस उद्धारया वो तो है गोविंद विरह से तो बारह साल केवल रोना बारह साल एक पूरा युग तो केवल रोना बारह साल ना एक क्षण हो गया परंतु चैतन्य महाप्रभु की अनुभूति में बारह साल जैसे है और शून्यायतम जगत सर्वम पूरा जगत शून्य जैसे है मतलब कुछ नहीं है जगत में जिससे मैं कुछ भी सुख मिल सकता हूं यदि गोविंद की संगति नहीं हो तो सन्यासियों तो ऐसे देखने चाहिए शून्य जगत जगत में कुछ नहीं जो सन्यासी है तो जगत में सब कुछ जो है तो किसी वास्तु से आकर्षित नहीं होना चाहिए सन्यासियों के लिए ऐसे देखना जगत शून्य है उचित अगर कुछ देखते ओ वो अच्छा है मुझे वो चीज चाहिए ऐसे देखना सन्यासियों के लिए उचित नहीं चैतन्य महाप्रभु का विलाप है कि जगत शून्य है सब कुछ शून्य है क्योंकि मुझे गोविंद की संगति नहीं है तो ये प्रेम भावना आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च कक्ष है तो शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु द्वितीय श्लोक में बोले कि मुझे अनुराग नहीं है गोविंद का नाम के लिए तो ऐसे सुनिच था विनम्र भाव से भक्तों सोचते हैं कि मुझे कुछ भी अनुराग नहीं है गोविंद के लिए परंतु वास्तव में शुद्ध भक्तों विशेषकर जो चैतन्य महाप्रभु के उच्च पार्षद है उनका अनुराग इतना है कि एक निमेश में भी गोविंद का दर्शन गोविंद की संगति नहीं मिलने से उनका विचार में तो पूरा जगत शून्य होते हैं और एक निमेश यदि गोविंद का दर्शन नहीं होते तो वो निमेश तो बहुत बहुत दीर्घ काल जैसे लगते और दुख से विरह दुख से रोते हैं तो चैतन्य महाप्रभु इसके पहले भी बोले आई नंद चंद्र किंकरंग फतितांग विषमे फतितांग मांग विषमे भवम बुध कि मैं इस विषम भौतिक जगत में गिल गए हूं दुख सागर इस भौतिक जगत दुख का सागर जैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की वो सभी दुखों से बचा परंतु इस दुख गोविंद विरह दुख वो सांसारिक दुख से और बहुत तीव्र होते तो भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति के बारे में कि राजा विजय राजा गोह्यम पवित्र मृदम उत्तम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम कि ये श्रेष्ठ विद्या है परम गुह्य है परम पवित्र है और ये धर्म का प्रत्यक्ष से अनुभव होते और इस धर्म अवलंबन करने में सुसुख होते हैं तो हम जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है या अनुयायी के दास के दास के दास है हम चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं हम सबको कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि दुख से विमुक्त हो जाओ कृष्ण सेवा करो कृष्ण सेवा कृष्ण भक्ति सुख सागर है परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं भौतिक दुख सागर से कृष्ण की कृपा से बच गया हूं तो अभी वो दुख जो मैं अनुभव करता हूं वो विरह दुख गोविंद विरह दुख वो दुख साधारण आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश भौतिक क्लेशों से और बहुत बहुत बहुत तीव्र है तो हम किस लिए हम प्रचार करते हैं हम प्रचार करते हैं तो आ जाओ कृष्ण भक्ति करो हरि कृष्ण बोलो वो दुखी रहो ये हमारा प्रचार है क्या दुखी रहो गोविंद भी रह दुख तो ये राजा विजय राजा गुह्य है राजा गुह्य है कि वो विरह दुख परम सुखी है इसको समझना न्याय और तर्क से संभव नहीं है अनुभव करना है तो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम इतना सा था जो साधारण जीव के लिए संभव नहीं है तो कैसे प्रेम अनुभव किया है कुछ वर्णन है चैतन्य चारितामृत में तो गोविंद विरह दुख या सुख से कभी कभी उनका दिव्य शरीर कुर्म रूप जैसे था अर्थात उनका सिर हाथों पायों तो सब शरीर के अंदर प्रवेश किया है जैसे कुर्म कच्छप और कभी कभी उनके हाथों पायों तो उस शरीर से दूर चले गया और बीच में काली त्वच था तो ये सब वर्णन है चैतन्य चरितमृत में और कृष्ण इसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंतव्य करते हैं कि ऐसे प्रेम लक्षण तो किसी शास्त्र में ऐसे वर्णन नहीं है और इतिहास में भी कोई दूसरा का ऐसे प्रेम लक्षण नहीं था ये कारण है गोविंद विरह तो हम जो चैतन्य महाप्रभु के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक होने के इच्छुक है हम चैतन्य महाप्रभु का प्रेम के पूजा के ऐसे प्रेम अनुभव करना हम कल्पना नहीं कर सकते परंतु वो प्रेम की पूजा करने से हम भी आशा करते हैं कि वो प्रेम सागर का एक बूंद प्राप्त करना हमारे लिए यही संभव होगा यही षड गोस्वामी अष्टकम जो हम अभी गए शिल प्रभुपद बोले जो उनके शिष्यों जो वृंदावन धाम में सेवा करते हैं निवास करते हैं उनका यही षड गोस्वामी अष्टक कीर्तन हर रोज गन्ना चाहिए शिल प्रभात बोले जो मेरे शिष्यों जो ब्रज में रहते हैं उनका चरित्र व्रज के षड गोस्वामी का आदर्श के अनुसार होना चाहिए तो व्रज धाम निवास करना और भोग विलास करना बहुत क्या बोलते हैं अनुचित है असमंजस है तो वो षड गोस्वामी अष्टक में श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ का विरह भाव का वर्णन है हे राधे व्रज देवी के जललित हे नंद सुन कुतः हे राधे हे ललिता हे रज देवियों हे नंद सुन कृष्ण कहा है कहा है तो कृष्ण भगवान सर्वत्र विराज, विराजमान है और विशेष का व्रज धाम में है परंतु विरह भाव से शुद्ध भक्तों विशेषकर जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संचित है तो वे कृष्ण के संगति में होते हुए भी तो विरह भाव अनुभव करते हैं तो इस विरह भाव है चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान उनके कुछ विशेष प्रदान है যদি গড় না হইতো তবে কি হইতো কেমনে ধরে তন্দে রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানত কে चैतन्य महाप्रभु के अलावा कौन योग्य थे श्री राधार की महिमा जगत में प्रचार करने के लिए और विपिन माधव जगते जान के विपिन क्या है विपिन बड़ो जो जुगते भगति सकति होइतो का मधुर वृंद विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सा বরজ যুবতী भावेर भक्ति सकति হৈতকা चैतन्य महाप्रभु के अलावा कौन हमको मधुर वृंदावन लीला विशेषकर व्रज युवती लीला व्रज गोपी लीला कौन हमको समझा सकते तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है राधा कृष्ण और ब्रज गोपियां की महिमा प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है और इस विरह भाव की परम भक्ति है उस भक्ति जिसमें भक्तों यदि एक निमेश में भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं मिलते तो वो एक निमेश बारह साल जैसे अनुभव करते और बारह साल का दीर्घ उत्पीड़न जैसे अनुभव करते हैं तो विरह भाव का विश्लेषण है गोस्वामी साहित्य में गोस्वामी साहित्य का मतलब जो श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी ने रचित किए है और उसमें भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी का विश्वनाथ चक्रवर्ती का तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के मुख्य आचार्यों पार्षदों इस विरह भाव का विश्लेषण किए कि ये कृष्ण प्रेम का सर्वोच्च स्तर है और ऐसा हो सकता है कि भक्तों कृष्ण की साक्षात सानिध्य में भी विरह भाव अनुभव करते हैं या डरते हैं कि अभी कृष्ण है हमारे साथ परंतु शायद चले जाएंगे तो इस प्रकार विरह भाव इतना उत्तम भाव है तो ये भाव मर्यादा भक्ति के बहुत ऊपर है और हम बहुत ही भाग्यवान है कि हम जो अगर हम एक निमेश में कुछ ना कुछ इंद्रिय सुख नहीं मिलते है हम बहुत दीर्घ काल जैसे लगते तो आइसक्रीम सिगरेट गुटका ये सब तो तीन मिनट से सिगरेट नहीं पी तो मुझे सिगरेट दे दो मुझे याद है स्कूल में मैं एक दूसरा विद्यार्थी स्कूल में तो विद्यार्थी हम कोई विद्यार्थी नहीं थे तो हम ऐसे नहीं मानते थे कि हमारा अर्थ है विद्या तो स्कूल का रूल है तो स्कूल में स्मोकिंग मना है तो दोपहर वो अवकाश का समय तो स्मोकिंग कर सकते स्कूल का अपहार जाकर तो फिर उसके बाद और तीन घंटा काल सिगरेट नहीं पीना और चार बजे और घंटा बजाते और तुरंत भागा संतुष्टि विरह भाव सिगरेट सिगरेट नहीं नहीं पीना तीन घंटा खाओ युगायतम निमेश तो हमारा आदत ऐसे होते हम हमेशा चिंतन करते रहते हैं तो कैसे इंद्रिय सुख हो सकते स्थूल या सूक्ष्म कृष्ण भक्ति जीवन में स्थूल इंद्रिय सुख वर्जित है तो सूक्ष्म इंद्रिय सुख भी हो सकते चैतन्य महाप्रभु हमको चेतावनी दे भक्तों के लिए लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छाएं भक्ति के बाधा है यदि हम भक्ति करने से भौतिक लाभ मिलना चाहते या पूजा लोग मुझको सम्मान देंगे या प्रतिष्ठा मैं बड़ा भक्त बन जाऊंगा तो ऐसे सोचने से भक्ति नष्ट हो जाती परंतु हमारा अनादिकाल से अभ्यास है कि हम चाहते हैं कि दूसरों हमको सम्मान देंगे मैं बड़ा हूंगा मैं आराम में भक्ति करूंगा ये तपस्या का जरूरत नहीं है आराम से भक्ति आराम के बीच भक्ति करो तो यही सब भक्ति के बाधा है तो खुद का मन देखना चाहिए उसमें क्या है हमारा क्या चिंतन है कृष्ण का चिंतन या जगत में और सब कुछ जो है वो सब विषय के ऊपर है गोविंद विरह वो हमारा लक्ष्य है जो कितना दूर हम है उससे हमको देखना चाहिए आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से विराह भावी नहीं होना चाहिए हमें सेवा करना चाहिए और वो सेवा का आदर्श वो विरह भाव जो श्री चैतन्य महाप्रभु और सब महान महान भक्त अनुभव करते हैं वो प्रेम हम पूजा करते हैं Pujala Ragapata. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ने गौरिया गण की भक्ति भावना इस प्रकार वर्णन किया है कि वो राग भक्त कृष्ण भक्ति में दृढ़ अनुराग जिससे विरह भाव उत्पन्न होते हैं हम वो राग मार्ग की पूजक है जैसे भक्ति संघ ठाकुर ने कहा वो रूप गोस्वामी का उपदेश अमृत का वचन का मंतव्य करने में शिल भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा कि शिल रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में स्थापन किया है कि त्रिभुवन में सर्वोच्च स्थान है राधा को त्रिभुवन का मतलब भू भुव स्व या आध्यात्मिक त्रिभुवन है आ, वो वैकुंठ अयोध्या गोलोक तो त्रिभुवन में सर्वोच्च स्थान है राधा कुंड और राधा कुंड में निवास करना सर्वोच्च सिद्धि है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं राधा कुंड में निवास नहीं करूंगा गोवर्धन में तो उपदेश अमृत में श्री रूप गोस्वामी ने स्थापन की कि गोवर्धन अत्युतम होते हुए भी राधा कुंड जैसे उच्च नहीं है यही सब आध्यात्मिक तारतम है ऐसे ही नहीं है कि गोवर्धन तुच्छ तो ऐसे ही नहीं है गोवर्धन तो अति महान है तो भक्ति सुदन सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं गोवर्धन में निवास करूंगा और मेरे सब गुरुजन रूप रघुनाथ भक्ति विनोद ठाकुर वे सब राधा कुंड में निवास करते हैं तो मैं थोड़ा दूर से निवास करूंगा और राधा कुंड जाऊंगा सेवा के लिए और वापस आऊंगा गोवर्धन तो वो आदर्श राधा कृष्ण सेवा जो अत्यत्युतम है तो राधा कृष्ण के सेवकों की सेवा करना गौरय गण का लक्ष्य है तो ये बहुत उच्च विचार है जो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया हम जो इस विषम वम बुद्धि में है इस भौतिक संसार में है और हम जो प्रयास करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चार नियम पालन करना तो हम इस नीचा वस्तु में बहुत ऊपर देख सकते कि व्रज भक्ति ही है और हमें वहां जाना है हम अति अयोग्य होते हुए भी हम शिल प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों से इस आशा में कि हम उनकी कृपा से अधिका मिलेंगे वो व्रज धाम में सेवा करने के लिए वो व्रज धाम में सुख अति तीव्र होते हैं और दुख भी अति तीव्र होते वो महान सुख जो होते रासलीला में रस भंग के बाद अर्थात भगवान श्री कृष्ण तो रस विलास रस नृत्य से जाने से वो विरह दुख जो होते हैं वो वो संगम सुख से और भी तीव्र होते हैं और श्री कृष्ण का मथुरा प्रस्थान के पश्चात व्रजवासियों कैसे विरह दुख सागा में रहते हैं वो अकल्पनीय है तो ये सब वर्णन है गौड़ शास्त्र में और वो विरह सुख विरह विरह दुख जो परम सुख कैसे सुख होते हैं समझना संभव नहीं है तो विचार यही है कि विरह तो सनातन नहीं है जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास तो दास तो सेवा करते हैं तो सेव्य कृष्ण जो सेव्य है इनकी सेवा करना है सेवकों से और जो सेवक है तो सदैव प्रभु से विचूत नहीं होते वे संगम का अवसर मिलते और वो सुख अनुभव जो होते हैं क्रॉ क्रॉ युगों के पश्चात अर्थात एक निमेश के पश्चात एक निमेश विराह दुख अनुभव करने के पश्चात कृष्ण की संगति प्राप्त करने से उत्सुक जो होते हैं वो वो विरह दुख से और भी अधिक होते तो ये काल चक्र होते हैं ब्रज लीला में इस भौतिक संसार में काल चक्र है पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठर शयनम जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो ब्रज धाम में वो काल चक्र है विरह संगम विरह संगम विरह संगम और हर एक बार विरह होते हैं तो वो दुख अनुभव और अत्यंत तीव्र होते पूर्व काल का विरह की तुलना में और वो सुख अनुभव वो भी और बहुत अधिक होते तो इस प्रकार प्रेम सुख का अनुभव सदैव बढ़ते रहते हैं तो ये सब कल्पना के अतीत है कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में ऐसा लगता है कि यही सब वर्णन कल्पना के अतीत है तो हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम रघुनाथ दास गोस्वामी का श्रीमुख से ये सब सुनने हैं तो कल्पना के अतीत शास्त्र वर्णन के अतीत होते हुए भी विश्वास करना चाहिए और जो विश्वास करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिकारी होते हैं तो ये सब परम रहस्य में प्रवेश करना केवल कृपा से संभव है चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार हमको सिखाए आई आई नंदन ये पहले वो नाम नाम खारी बहुदा निज सर्वश्रेष्ठ वो कि भगवान इतना कृपा माय है कि वे नाम के रूप में सरलता से उपलब्ध है और भगवान का नाम तो केवल एक साधारण ध्वनि नहीं है वो नाम ही कृष्ण ही है तो पापी दीन अज्ञानी और सब लोग भगवान का नाम बोल सकते और नाम बोलने से शुद्ध होते हैं तो नाम साधना करने से चेतो दर्पण मार्जित होते हैं और धीरे धीरे भक्तों भक्ति पद पर अग्रसर होते हैं तो पहले ही चित्त शुद्धि होती है और धीरे धीरे भक्तों आनंदाम बुद्धि सुख सागर भक्ति सुख सागर में डूब जाते हैं नाम का प्रभाव से तो ये सब संभव कैसे होते हैं कृपा से भक्तों की श्रद्धा है कृष्ण और कृष्ण भक्ति में वो श्रद्धा से हम कृष्णा की कृपा मिलते हैं और यदि श्रद्धा इतनी से है कि हमारी पूरी श्रद्धा है चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भावना के वर्णों में तो हरि नाम करते करते तो हम इनकी कृपा से उस अति रहस्यमय अति गुह्यमय वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते और व्रज से और भी रहस्यमय लीला है गौर लीला भगवान कृष्ण स्वयं राधा की भावना आस्वाद करने के लिए सन्यासी के रूप में आते हैं और सदैव विराह भाव अनुभव करते तो मुझे मालूम नहीं आप लोग योग्य है ये सभी कथा सुनने के लिए मुझे मालूम है कि मैं योग्य नहीं हूं ये सब कहने के लिए परंतु यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार हमको सिखाए तो सुनना चाहिए यदि हम नहीं सुनते तो हम कैसे मालूम पड़ेंगे कि यही हमारा लक्ष्य है केवल भौतिक दुखों से भी मुक्त होना हमारा लक्ष्य नहीं है सेवा सनातन सेवा हमारा लक्ष्य है और कृष्ण भक्ति में उत्तम स्तर यही है विरह भाव और चैतन्य महाप्रभु और उनके मुख्य पार्षदों उनका स्वयं आदर्श के अनुसार हमको सीखे कि यही भक्ति का चरम लक्ष्य हे राधे व्रज देवी के हे नंद सुनो खुत श्रीगोवर्धान कल्प पाद पतले कालिंदी वन्य घोषंथावि सर्वतो रजपुरी खेदाय महाविवलो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को तो वो खेद विरह खेद सर्वोत्तम है तो भक्ति करने से खेद अनुभव करना कि मैं सदैव आशा करता हूं कृष्ण की संगति नहीं मिलते नहीं मिलते नहीं मिलते तो वो खेद बाप से दुख अनुभव करते हैं परम भक्त वो दुख जो परम सुख है और वो परम दुख या परम सुख की पूजा करना गौड़िया साधना है हरे कृष्ण इसके बारे में शिल प्रभुपाद ने कहा चैतन्य महाप्रभु वैसा न्यासी है उनका कुछ भी प्रयोजन नहीं है सन्यासी का मतलब जो सब कुछ त्याग किया है उनका क्यों रोते हैं गोविंद के लिए पूरा संसार को त्याग किया है सन्यासी क्यों गोविंद के लिए रोते हैं वो सत्य प्रयोजन है गोविंद विरह गोविंद प्रयोजन गोविंद प्रयोजन गोविंद अकेले नहीं है गोविंद के साथ प्राण है वृंदावन है गोपियांग है नृत्य विलास है भोजन भी है सब कुछ ही है वो प्रयोजन है तो सन्यासी हम सब कुछ त्याग करते हैं और सब कुछ मिलते हैं भाई बांधव कुटुम्बों स्वादिष्ट भोजन नृत्य सन्यासियों के लिए नर्तन करना मना है तो एकदम गंभीर होना चाहिए सन्यासियों परंतु वैष्णव सन्यासी व्रजविलास गोविंद के लिए चैतन्य महाप्रभु रोते हैं शिल प्रभुपाद और भी लिखते हैं कि भजन का सर्वोच्च कक्ष है यदि एक व्यक्ति रोते हैं आंसू तो नदी जैसे उसका धार होते हैं और सब कुछ शून्य जैसे देखना है गोविंद विरह से वो ही कृष्ण भजन का सर्वोत्तम कक्ष है हाँ ओके शिल प्रपद और भी कहते हैं भक्तों का लक्ष्य है कि हरि कृष्ण महामंत्र जप करने का समय उनके अंकों अश्रु पूर्ण होगा उनकी गदगद वाणी होगी और उनका हृदय स्पंदन होगा ये सब अनुकूल चिन्ह है कृष्ण कीर्तन में भाव में भक्तों तो पूरा जगत गोविंद बेरा से शून्य अनुभव करना चाहिए ये गोविंद बेरा का चिन्ह है सांसारिक जीवन में हम सब गोविंद से विरहित है परंतु हम भौतिक इंद्रिय सुख में तन्मय है इसलिए जब हम प्रबुद्ध होते हैं आध्यात्मिक स्तर पर हम बहुत इच्छुक होते हैं गोविंदा का मिलन करने के लिए और हम इस प्रकार सोचते हैं कि गोविंद के बिना संपूर्ण जगत शून्य होते हैं हरे कृष्ण So, कीर्तन few minutes. और उसके बाद मैं दस मिनट में वापस आऊंगा उसके बाद अगर किसी का प्रश्न हो तो सात बजे तक प्रश्नोत्तरी जैसे हम कुछ मंदिर में नृत्य करते हैं या कुछ कथा सुनते हैं मूर्ति मंदिर में नृत्य करते हैं कीर्तन में कीर्तन नृत्य हाँ। नृत्य करते हैं और कुछ कथा सुनते हैं भगवान के लीला विषय में तो हमको कुछ बीड़ो भाव जिसे आंखों में आंसू आ जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं तो भौतिक आंखों में आंसू रोते हैं ऐसे लोग तो बाहर जाते हैं तो भौतिक आकर्षण होते हैं जैसे कुछ सिगरेट भी पीते हैं चाय भी पीते हैं और प्रश्न कभी भी नहीं सुनता कितना बार सुना तो वो भौतिक है कि आध्यात्मिक मंदिर में हम पूरा प्रेम भावना से भावित होते हैं अष्ट सत्विका होते हैं और बहा जाकर हम सब कुछ तुरंत भूलते हैं माये का आकर्षण से प्रेम भावना जो हम हम अनुभव करते हैं वो पक्का प्रेम भावना नहीं पक्की नहीं है अच्छा है यदि हम भक्ति भावना अनुभव करते हैं वो अच्छा है ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं है कि नहीं मैं भक्ति करता हूं लेकिन कुछ भी अनुभव नहीं हो सकते क्योंकि मैं सबसे नीच हूं तो ऐसे नहीं है तो भक्ति करने से हृदय नरम होना चाहिए और अनुभव भी होते हैं तो वहां जाकर मायक आकर्षण होते हैं या अंदर में भी हो सकते हैं ऐसे मत सोचो कि माया इस मंदिर में नहीं है कम से कम मन में है तो जो दो उत्तर है एक है बहा मत जाओ ये अंदर में आपका पूरा मायक अनुभव भी हो सकते या बहा जाके हृदय में गोविंद साथ में रखे जाए तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्व तो कृष्ण को भूलो मत और इसलिए बाहर जाने का समय अच्छा है तो भक्त संग में जाना अकेले नहीं है और केवल कृष्ण की सेवा के लिए बाहर जाना आप ब्रह्मचारी हो आपका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है तो माया का आक्रमण होते हैं और इसलिए हम साधना करते हैं और धीरे धीरे चैत्र दर्पण मार्जनम होगा लगते ही इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया था कितने बार हम भक्ति करते हैं तो माया हमको आक्रमण करते है क्यों हम माया को बुलाते हैं वो महाभारत नहीं वो कहानी है नहीं आपको मालूम है नहीं नहीं तो कैसे माया हम को आक्रमण करते कैसे हम माया से आसक्त होते तो ये प्रश्न एक राजा का राज दरबार में ये राजा उनके सब मंत्री और उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा कि ये माया का प्रभाव इतना सा होते क्यों हम माया को नहीं चढ़ते क्यों तो एक एक करके सब बड़े बड़े पंडित ने उत्तर दिया तो सब अलग अलग उत्तर दिए थे ये सब देखते थे एक वृद्ध विद्वान ब्राह्मण तो एक कोने में बैठते हैं और कुछ नहीं बोले तो सब वो सब उत्तर जो सब दिए थे तो वो सब सुनने से राजा तो संतुष्ट नहीं था और वो एक वृद्ध पंडित तो कुछ नहीं बोले तो सब वो पंडित से पूछे तो आपका उत्तर क्या है हम माया से इतना आसक्त होते क्यों तो पंडित ऐसे ही भेज रहे थे फिर अचानक उठ जाके एक स्तंभ को अलिंगन दृढ़ अलिंगन किया और जोर से बोला मुझको छोड़ दो मुझको छोड़ दो मुझको छोड़ सब लोग क्या वो पागल हो गया तो ऐसे ही एक दो मिनट ऐसे चलाने से सबको पता है हम बोलते हम बोलते कि हम प्रयास करते माया को चढ़ना लेकिन हम माया को ऐसे अलिंगन करते हैं हम माया को नहीं माया तैयार है हमको चढ़ना लेकिन हम तैयार नहीं है माया को चढ़ना तो मैं शुद्ध भक्त हूं माया क्यों ऐसे आक्रमण करते हैं मुझको मैं प्रेम भक्त हूं तो किस लिए मेरा आकर्षण है जगत के सब चीजों के क्यों <laughs> हरे कृष्ण हरे कृष्ण चैतन्य भगवत में एक कथा आती है कि चैतन्य महापुरुष जब जगन्नाथपुरी आते हैं तो भुवनेश्वर मंदिर में जब जाते हैं तो शिव जी को देख के कीर्तन करते हैं और बहुत भाव भाव में आ जाते हैं ऐसा तो हम कैसे समझे ये लीला को ऐसा कि वो शिव जी का कीर्तन कर रहे हैं ऐसा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शिव जी परम भक्त ऐसे मानते हैं चैतन्य मंगल में वो कहानी है वो भुवनेश्वर के कि शिव जी वो कैसे शिव कुछ प्रसाद मिले कृष्ण प्रसाद मिले और बहुत प्रसन्न हुए कीर्तन कीर्तन फिर पार्वती उसको उनको शिव जी को इतना प्रसन्न देखे पूछा गया क्या क्या हो गया तो मैं थोड़ा सा कृष्ण प्रसाद मिला इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं तो मेरे लिए कुछ बच गया और क्या बोलते हैं नाक नाखून में थोड़ा सा तो वो पार्वती को पूरा कहानी क्या है मुझे याद नहीं लेकिन वो बाद में वो शिव जी की कृपा से जगन्नाथ पुरी में रहते हैं और सबको बहुत बहुत प्रसाद देते हैं तो पहले बहुत दुर्लभ था और पुरी जाने के पहले क्योंकि ज्यादा लोग तो उत्तर दिशा से आते हैं तो एक्चुअली विधि है तो पहले भुवनेश्वर जाना है भुवनेश्वर लिंगराज का दर्शन करना है और उसके पश्चात जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का दर्शन करना वो विधि है वो पूरा कहानी मुझे याद नहीं है तो अनादिकाल से वो ही विधि है तो परम वैष्णव दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु लिंगराज को प्रणाम किए है और उसके पश्चात पूरी धाम गए थे वहां पर जगन्नाथ का दर्शन मिलके चैतन्य महाप्रभु पूरा मूर्छित हो गए हैं तो वो वर्णन है चैतन्य चरित में की चैतन्य महाप्रभु उनकी दक्षिण यात्रा में तो सब विष्णु मंदिर शिव मंदिर दुर्गा मंदिर देवता मंदिर तो सब दर्शन किया सभी मंदिर में शिव मंदिर दुर्गा मंदिर स्कंद सुब्रमण्य मंदिर गणेश लंग गणेश महाराष्ट्र में लक्ष्मी महालक्ष्मी कोलापुर वो सब दर्शन किए हैं चैतन्य महाप्रभु और हमको ब्रह्म संहिता प्रदान किए है जिसमें हम मंत्र मिलते हैं और क्या क्या मंत्र उच्चारण करना है शिव मंदिर में गणेश मंदिर में शिव मंदिर में क्षीरंग था दीपिकार इत्यादि गणेश मंदिर में यथाद पल्लव युगंग निधायक इत्यादि तो इस प्रकार वो सब देवताओं विष्णु भक्त जैसे दर्शन करने हम साधारण भस्म लगाने वाले कपालिक शिव भक्त नहीं है हम वैष्णव है महाराज और भक्ति समृद्ध सिंधु में वो त्रिपुंड शिव का थी लगाना है मना है ऊर्ध्व पुंड ये है हाँ Maharaj, as you mentioned in lecture uh, that uh, one nimish or uh, it may take uh, so many births to get Krishna's uh, sung, that Krishna sung. Okay. Krishna sung. Association of Lord Krishna. Sung. हाँ, sung. Krishna sung. So, आप for, हिंदी में बताए हाँ, अगर आपकी बात नहीं नहीं समझता हूँ तो हाँ, मैं पूछूंगा क्योंकि तो हम जैसे साधना भक्ति के लिए जैसे संत तो ये कि इन हरिनाम कीर्तन हम अभी साधना भक्ति करते हैं और कृष्ण विरह बहुत हाँ। उच्च विषय है तो वो हमारा लक्ष्य है हाँ तो जो साधना भक्ति में हम सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं वो हमारा लक्ष्य है वो विरह भाव की पूजा हम करते हैं और जो विरह भावी है इनकी पूजा हम करते हैं तो हमारी स्थिति है काम क्रोध लोभ इत्यादि से आसक्त है और पीड़ित है तो हम अभी साधना अवस्था में है ये सब विरह भाव है के बारे में ऐसा नहीं है कि मैं सबको कहता हूं तो ये सब साधना चढ़ के और नखो विराह भाव अनुभव करो ऐसे नहीं अभिनय और भक्ति दोनों अलग है हम्म, तो हम जैसे को हरिनाम कीर्तन में जो एक्सपीरियंस करते हैं हम वो टेस्ट वो जो वो हमारे लिए वो संग है वो हरिनाम कीर्तन में और सेवा में और भक्ति के सब श्रवण कीर्तन स्मरण ये सबों में हम कभी कभी हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से कुछ भक्ति अनुभव करते हैं हाँ। तो वो पूरा प्रेम भावना नहीं है वो नमूना भगवान श्री कृष्ण हमको देते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि भविष्य में यदि हम इस पथ में रहेंगे तो कितना विशाल भाव हम अनुभव कर सकते हैं और भक्ति हम भक्ति करते हैं हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि होते तो फिर भी भक्ति का प्रभाव ही है तो वो काम क्रोध लोभ इत्यादि होते हुए भी तो यदि हम कम से कम कुछ न कुछ सिंसेरिटी मतलब अकपट भाव से भक्ति करते हैं तो भक्ति देवी का आशीष से हम कुछ अनुभव करेंगे लेकिन वो अनुभव से हमें नहीं सोचना चाहिए कि अभी मुझे साधना करना की आवश्यकता नहीं है वो अनुभव करने से ही समझना चाहिए कि मुझे और भी तीव्रता से साधना करना चाहिए महाराज जो शब्द आपने यूज किया जो निमिष निमेश निमेश निमेश जो मतलब वो आपकी ब्लिंक ब्लिंक इंग्लिश में ब्लिंक हाँ, बोलते हिंदी में क्या बोलते हैं पलक झपकना पलक झपकना पलक झपकना तो it depends on Krishna's mood that Krishna is सौराट अगर कृष्णा की इच्छा हो तो निमिष में भी आपको कृष्ण संग दे सकते हैं नहीं तो uh, करोड़ों करोड़ बर्थ भी लग सकते हैं Krishna so could you explain just Maharaj और कृष्ण हमको उपाय दिया है साधना भक्ति का उपाय हाँ। जिससे हम अधिका मिलेंगे उनकी पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए एक्चुअली अधिका या आ, या अनधिका तो प्रश्न नहीं है परंतु सामान्य विधि है जो भगवान कृष्ण हमको प्रदान किया है कि ये सब नियम पालन करना चाहिए एक निमेश में हम सर्व सिद्धि प्रेम सिद्धि मिल सकते या क्रो क्रो जन्मों के पश्चात सब कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं तो फिर भी ऑनररी डिग्री के लिए हमें आशा नहीं करना चाहिए ऐसा सब कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं तो उसलिए हमें कुछ भी नहीं करने से आशा करेंगे कि भगवान मुझको प्रेम प्रदान करेंगे तो फदाती है जिससे चित्त शुद्धि होती है वो है चैतो दर्पण मार्जनम इत्यादि वो वायधी भक्ति साधना जो भक्ति और समृद्ध सिंधु में वर्णित है उसका उद्देश्य है राग उत्पत्ति मतलब वो उसमें श्रीमद भागवत श्रवण है और यदि हम चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से श्रीमद भागवत श्रवण करेंगे तो वो कृष्ण कथा जो हम सुनेंगे वो वैकुंठ कथा उसका लक्ष्य नहीं होगा वैकुंठ का मन वो लक्ष्य होगा व्रज सेवा क्या हम देवी देवताओं का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं हम क्या देव देवियों का प्रसाद ग्रहण कर सकते कौन पूछते क्यों पूछते माइक से कहो नहीं नहीं हम लोग तो नहीं लेते लेकिन कभी कभी एक लेक्चर में मैं सुना था एक महाराज बताया कि हम लोग को देवी देवता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए हाँ। तो कोई अगर प्रसाद देता है तो तो शास्त्र में क्या निर्देश है भक्ति समृद्ध सिंधु में नहीं हमको तो नहीं लेना लेना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ भक्ति और समृद्ध सिंधु में रूप गोस्वामी हमको क्या निर्देश दिया इस विषय के बारे में कृष्ण प्रसाद खाने के लिए कृष्ण प्रसाद लेना और देव देवियों का प्रसाद ग्रहण नहीं करना तो मतलब कोई ऐसा बोला है कि आप ले लो ऐसा करता हूँ अगर देव देवियों का मंदिर जाता हूँ जैसे कल कल परसों तो एक शिव मंदिर में तो मुझको एक नारियल थे तो उसको ग्रहण किया था मतलब हाथ में ग्रहण किया था लेकिन वो प्रसाद के रूप मतलब खाना के लिए नहीं और भक्तों मुझसे पूछे क्या करना है मैं बोला था अच्छा, वो एक शिव भक्त को दे दो ऐसे या साधारण हिंदू को दे दो कोई कोई कोई कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जब हम देवी देवताओं को अर्पण करेंगे तो देवी देवता लोग पहले कृष्ण को अर्पण करेंगे नहीं लेकिन जो दे, देवी हमको देते हैं और जिनकी कृष्ण भक्ति नहीं है और ऐसे स्वतंत्र देवता जैसे उस बुद्धि से अर्पण करते तो वो अर्पण तो देव देवी अंग्रहण नहीं करते क्योंकि वे केवल कृष्ण भक्तों से ग्रहण करते जैसे आप वैष्णव है आप अभक्तों से कुछ भी ग्रहण नहीं करते तो अगर कोई दे तो हम लोग लेके और किसी को दे दे सकते हैं हम ऐसे कर सकते ब्रह्माज नामाकल में आ, जो नृसिम्हा देव को भोग लगता है वो भोग प्रसाद के रूप में अंजनी अंजनिया हनुमान को लगता है और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अच्छा तो हमारे लोकल भक्त सब वो प्रसाद ग्रहण करते हैं वो उचित है हनुमंत राम के भक्त है राम तो नृसिंह से अभिन्न है क्या है दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक नागर है जिसका नाम है नमक और वहां पर एक प्राचीन स्वयंभू नृसिंह विग्रह है और वो मंदिर के सामने एक हनुमान मंदिर है जो अति प्राचीन नहीं है और वो हनुमान मंदिर वो नृसिंह मंदिर से और बहुत प्रसिद्ध है और वो हनुमान कितना लंबा है तो तीन मीटर जैसे उसके ज्यादा चार मीटर और वो हनुमान की एक विशेषता है कि उनके ऊपर छत नहीं है अगर छत हो तो आपने आप छोड़ जाते हैं और, और हनुमान धीरे धीरे और भी लंबा हो जाता है <laughs> तो विधि है वो नृसिंग मंदिर में वो नृसिंग का भोग जो नृसिंह देव को आपन किया है तो वो प्रसाद अंजनेय को देना है और उसके बाद सबको बांटना है तो यहाँ का प्रश्न क्या है भक्तों का लेना है और क्या विधि है थोड़ा विचित्र है क्योंकि हनुमान राम जी का भक्त है तो राम और नरसिंह अभिन्न है हम तो ऐसी विधि स्थापन नहीं करेंगे अगर हम नृसिंह की पूजा करेंगे लेकिन वहां होते हैं और लगदेव नृसिहदेव और हनुमान दोनों आपत्ति नहीं करते तो कुछ तीर्थ स्थल में कुछ असाधारण विधि होते हैं जैसे जगन्नाथपुरी में कौन सी विधि के अनुसार जगन्नाथ की पूजा होती है वैदिक पंचरात्रिक नहीं दोनों तो नहीं तो जैसे है वैसे है जगन्नाथ की सेवा देश नियम देश नियम शंकराचार्य ने स्थापना किया और रामानुज उसको परिवर्तन करना चाहते थे और जगन्नाथ रामानुजा का प्रस्ताव ग्रहण नहीं किया और रामानुजा जब पूरी धाम गए थे तो आगम विधि के अनुसार वैष्णव विधि के अनुसार वो जगन्नाथ की पूजा विधि परिवर्तित करने चाहते थे तो ऐसा संकल्प करके रामानुजा तो सो गए है और संकल्प किया कि काल में वो सब सब ठंड से बात करने से ये सब परिवर्तन करूंगा और अगला दिन सुबह रामानुजाचार्य जग गया कुंभ क्षेत्र में जो कितने दूर डेढ़ सौ किलोमीटर पूरी से दक्षिण में मतलब जगन्नाथ तो जैसे पूजा ग्रहण करते तो वैसे अच्छा लगता क्या हरे कृष्ण महाराज जैसे आपने बताया कि हम देवी देवताओं का जो ऑफर किया हुआ जो अन्न है वो नहीं खाना चाहिए अगर हम हनुमान जी के बारे में अगर देखें तो वो भगवान रामचंद्र के बहुत ही करीब के और बहुत अच्छे भक्त हैं बहुत अच्छे भक्त हाँ कौन है बहुत अच्छे हनुमान हनुमान जी हाँ तो क्या उन्हें चढ़ाया हुआ अन्न हमें स्वीकार करना चाहिए ये सब देवताओं भी बहुत अच्छे भक्त है परंतु जैसे देवताओं के भक्तों उनको भोग अर्पण करते हैं वो विधि बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि भूल धारणा से वे सोचते हैं कि ये सब देव देवियों स्वतंत्र देवता है और वे सब निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के अभिव्यक्ति हैं और ये सब भोग चढ़ाना पूजा करना अर्चन करना ये सब का उद्देश्य है वो देव देवियों को तुष्ट करना जिससे हम आशीष में लेंगे भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए तो ये सब पूरा भूल धारणा है और हनुमान की पूजा जो चलते हैं आजकल तो वो ठीक नहीं है हनुमान तो श्रेष्ठ वैष्णव है उनको अलग पूजन करना ठीक नहीं है हरिनाम जप करने के बाद और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे शुद्ध आचार्य का संग प्राप्त होने पर भी उनके जैसे क्या हरिनाम करने के बाद हरिनाम जप करने के बाद और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे शुद्ध आचार्य का संग प्राप्त होने पर भी उनके शिष्यों में इतनी ईर्ष्या और द्वेष क्यों उत्पन्न हुआ हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद बोले कि भक्त संग क्या है जो एक प्राणी शुद्ध भक्त की बहुत घनिष्ठ संगति कर सकती है कौन सा प्राणी एक मच्छर लेकिन क्या कहते हैं तो खून निकलते तो इससे आप विचार कीजिए इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की इच्छा नहीं है चैतन्य चैतामृत में एक कथा आती है कि वो माधवेंद्रपुरी उसमें आती है माधवेंद्रपुरी जब वो भौतिक जगत से अंतर ध्यान हो रहे थे प्रकट हो रहे थे तब हाँ, विरह भाव प्रकट किया है और रामचंद्रपुरी जो उनके शिष्य थे आके उनको निराकार में ध्यान करने का बोलते हैं हम्म। तो रामचंद्रपुरी इतने महान भक्त के शिष्य होकर भी ऐसा मायावादी शिष्य होने का मतलब क्या केवल दीक्षा लेने से ही और मैं शिष्य हूं बोलने से ही शिष्यता नहीं होते और परसों वो प्रवचन जो दिया था दीक्षा के बारे में उसका विचार करो मैं पचास साल से दीक्षित हूं तो शायद आपकी दीक्षा तो नहीं हुई Hare Krishna.